उनके बाप ने कहा मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं बशर्ते के तुम आठ साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो फिर अगर तुम दस साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मशक्क़त डालूं इन तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं